जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय सिया राम जय जय सिया राम बंदा गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गुरुदेव ज गुरुदे ओम जय सिया राम जय जय सिया राम <clears throat> करण सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयमय विषय कर आशा ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय सिया राम जय जय सिया राम बंद गुरु पद कंजी कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर संति सरल चित जगत हित जानी सुभाव सनी बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति दे ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय जैसा कि कल एकादशी था एकादशी पे हमारे आश्रम के वरिष्ठ महात्माओं ने सभी बोले गुरु महाराज भी बताए अब सब भक्तों ने सुना है एकादशी के लिए रामचरित गो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते एकादशी एक मन बस कर सेवा हो जाए सोई व्रत कर फल पावे आवागमन न सहे एकादशी का परिणाम कहते हैं आवागमन से छुट्टी मिल जाती है तो एकादशी कहते हैं दस इंद्रिय और एक मन इसको बस में करना है जब बस में करेंगे तभी हम ईश्वर की सेवा कर सकते हैं हमको तो बताना है तीर्थ कि तीर्थ है क्या जैसे रामचरितमानस या महापुरुषों के द्वारा जो भी आध्यात्मिक शास्त्रों का उल्लेख हुआ है तो उन्हीं शास्त्रों के माध्यम से हम आप एकादशी जो भी व्रत त्यौहार तीर्थ उनकी जानकारियाँ हमको शास्त्रों के माध्यम से हुआ है या महापुरुषों के जो हम वाणी सुनते हैं उपदेश सुनते हैं उनके माध्यम से जानकारी होती है तो इसी प्रकार रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी तीर्थों का भी उल्लेख किए हैं जिसमें से विशेषकर प्रयाग काशी चित्रकूट रामेश्वर इन तीर्थों को उन्होंने बार बार उठाए हैं और इन पे विशेष जोर दिए हैं क्योंकि राम भगवान राम का कार्यक्षेत्र यहीं पे था तो प्रयाग के विषय में बताते हैं कि प्रयाग राज तीर्थ तीर्थों में भी प्रयाग राजा है सब तीर्थों का तो उसी के माध्यम से हम थोड़ा बताएंगे कि तीर्थ है क्या जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थ पथ पुण्य देख प्रयागा निर्खत जन्म कोट अगभागा कि तीर्थराज प्रयाग को देखने मात्र से करोड़ों जन्म का पाप भग जाता है कितने लोग तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं वह तीर्थराज प्रयाग को सोते जागते उठते बैठते हर समय देखते हैं किंतु उनसे पूछा जाए क्या आपके पास पाप नहीं है पाप उसी के पास है जो दुख और अशांति झेलता है तो उससे पूछा जाए क्या आपके पास दुख और अशांति है कि नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं निकलेगा जो कह, कह दे कि नहीं हमारे पास नहीं है सब कहेंगे कि हम दुखी हैं और अशांत हैं किंतु यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तीर्थ पथ पुण्य देख प्रयागा तीर्थराज प्रयाग को बार बार देखने से कहते निर्खत जन्म कोटि अगभागा कि वह जहां हमने निरख देख देखे कहते करोड़ों जन्म का पाप भग जाता है एक जन्म का ही नहीं करोड़ों जन्म का और आगे तीर्थराज प्रयाग की विशेषता बताते हैं कि उस तीर्थराज प्रयाग में एक बट नाम का वृक्ष है कि वट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा कि उस तीर्थराज प्रयाग में एक बट का वृक्ष है कहते अचल निज धर्मा उसमें जहां हम आप हम आपका विश्वास अडिग हुआ कहते हैं धर्म में अचलता आ जाती है लोग कहते हैं कि प्रयाग में बट है उसमें जाते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है लोग चढ़ाते भी हैं किंतु विश्वास के नाम पे पूछा जाए तो जब तक वहाँ तब तक तो विश्वास जरूर कुछ न कुछ होता है किंतु बाहर निकलने पे विश्वास भी अडिग हो जाता है और धर्म अचलता का प्रश्न ही नहीं उठता कहते बट विश्वास अचल निज धर्म कि जहाँ हम बट के वृक्ष में विश्वास करते हैं तो धर्म में अचलता आ जाती है अचलता मतलब होता जो चलाए मन न हो किंतु उन्हीं के मन की गति देखा जाए तो उनका मन चंचल रहता है वहीं जाएंगे चढ़ाएंगे मनौतियों पे मनौतियों का अंबाल लगा देंगे कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए अचल का मतलब होता है जो वहाँ चलाए मन न हो किंतु वहाँ मांग मांगों पे मांग खड़ी कर देंगे कहते हैं अचल निज धर्म तीर्थराज समाज सुकर्म और तीर्थराज के समाज कहते सुकर्म कराते हैं कुकर्म नहीं कराते हैं सत्कर्मों में ही प्रवृत्त करते हैं दुष्कर्मों से अलग करते हैं किंतु वही तीर्थराज प्रयाग के जो समाज है उनको देखा जाए तो क्या वहाँ गलत नहीं होता सब अच्छा ही होता है किंतु आए दिन पेपर में कुछ न कुछ आते ही रहते हैं और विशेषता बताते हैं कि कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा तो वह प्रयागराज तीर्थ क्या जहाँ हम आप प्रयाग सुनते हैं देखते हैं वही है कि और कहीं है कहते नहीं वो सब जगह है कहते सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अब यहाँ विरोधाभास गोस्वामी तुलसीदास खड़ा करते हैं कि वह तीर्थराज प्रयाग सबको सुलभ है हम आप को तभी सुलभ होगा जब तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे जब वहाँ जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारे लिए तीर्थराज प्रयाग सुलभ नहीं हो सकता है किंतु यहाँ कहते सब ही सुलभ वो सबको सुलभ है और सब दिन में है ऐसा नहीं कि माघ का महीना आएगा मकर संक्रांति का समय आएगा उसी समय वह तीर्थराज प्रयाग सुलभ होगा किंतु यहाँ गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं कि सब ही सुलभ वो सबको सुलभ है सब दिन में है और सब देश में है चाहे आप अफ्रीका में बैठे हो चाहे अरब में बैठे हो चाहे अमेरिका में हो कहते सब देश चाहे जहाँ भी हो वह तीर्थराज प्रयाग आपके लिए सुलभ है कहते सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सब दिन है सब देश है और उसकी विशेषता बताते हैं कि सेवत सादर समन कलेसा कि उस प्रयागराज तीर्थ का सादर पूर्वक सेवन करने से क्लेश जो होते हैं उनका जो क्लेश है वो समन हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं कब जब तीर्थराज प्रयाग का सादर पूर्वक हम सेवन करते हैं अब उसी तीर्थराज प्रयाग की और विशेषता बताते हैं कि अकथ अलौकिक तीर्थ राउ देश शब्द फल प्रकट प्रभाव वह तीर्थराज प्रयाग है कैसा है जो सबको सुलभ है सब दिन में है सब देश में है सादर पूर्वक उसका सेवन करने से क्लेश नष्ट हो जाते हैं तो वो तीर्थराज प्रयाग का प्रभाव बताते हैं कि अकथ अलौकिक तीर्थ राहु देश शब्द फल प्रकट प्रभाव कि वह अकथनीय है अकथनीय जब वह होता है कि जब हमने कहा गया जो देखा सो कहा नहीं कहा सो देखा ना रहमन अगम बात की कहन सुनन को नहीं जब आप किसी जगह को देख देखेंगे तभी उसकी वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा है वैसा है आप यहां कहते हैं कि अकथ अलौकिक वह तीर्थराज प्रयाग है कैसा कहते अकथनीय है क्यों कहते अलौकिक है जब तक आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं कहते अकथ अलौकिक तीर्थ राव देव शब्द फल प्रकट प्रभाव वो अकथनीय है अलौकिक है किंतु उसका प्रभाव प्रकट है प्रत्यक्ष है तो जैसा तीर्थराज प्रयाग के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कुछ तो मान लो बट का वृक्ष या तीर्थराज प्रयाग ऊपर के कुछ चौपाइयाँ ऐसे जो मेल खाती हैं किंतु जब नीचे आइए तो उसमें विरोधाभास खड़ी कर देते हैं अब यहाँ कहते हैं कि अकथनीय है अलौकिक है अब आपसे पूछा जाए कि तो आप कहेंगे नहीं हम रोज देखते हैं रोज सुनते हैं तो है क्या तो शास्त्र दो दृष्टियों से लिखा जाता है एक लोक रीति लोक व्यवस्था जो होती है लोक मर्यादा जो होती है उसके आधार पर हम अपन जीवन यापन करते हुए निकल जाते हैं किंतु एक आध्यात्मिक भौतिक जगत से हट हट के आध्यात्मिक जगत में कैसे खड़े हों तो आध्यात्मिक शास्त्र गोस्वामी तुलसीदास ने यह प्रयाग के माध्यम से आध्यात्मिक चरित्रों का उत, उत, उन्होंने बताने का प्रयास किया कि अध्यात्म में प्रयागराज का स्थान क्या होता है तो यह हम आपको समझना होगा कि तीर्थ है क्या तो तीर्थराज प्रयाग को हम भी समझ लेंगे तो तीर्थ के लिए हम आप उसी स्थान को मानते जो पवित्र स्थान कहा जाता है किंतु वह पवित्र स्थान क्यों हुआ इस पर हम आप कभी नहीं विचार करते हैं मिट्टी तो वही है पत्थर वही है पहाड़ वही है पे, पेड़ पौधा वही है स्थान तो वही है धरती का एक न एक छोर ही है किंतु हम आप कहते यह पवित्र है ये अपवित्र है तो पवित्र कैसे हुआ क्यों हुआ इस पर हम आप कभी नहीं विचार करते हैं तो गोस्वामी तीर्थ भगवान शंकर प्रयाग के तीर्थ के विषय में बताते हैं तीर्थ है क्या कि जिस तीर्थ को पा जाने के बाद वह पवित्र स्थान बन जाता है तो इसके लिए कहते हैं कि तीर्थ है क्या तो भगवान शंकर कहते हैं इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्रमंती ताम साजना आत्म तीर्थम न जानाती कथम मोक्ष प्रिय कि भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती जो आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानता है आत्म तीर्थम न जानाती जो आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं जानता वह तामसी पुरुष यह तीर्थ है वह तीर्थ है वह तीर्थ है करके भटकता ही रहता है क्योंकि आत्मा ही सबसे बड़ा पवित्र और स्वच्छ है जो उस आत्मा रूपी तीर्थ को नहीं प्राप्त किया वह अपवित्र ही है क्योंकि कहते हैं कि तुलसी मन तो एक है चाहे जहाँ लगाओ चाहे हर की भक्त कर चाहे विषय कमाओ हम आप जब तक विषयोन्मुख हैं दसों मन सहित इंद्रियों से जब तक विषयों में हैं तो हम विषयों में होने का कारण अपवित्र हैं किंतु इन्हीं मनसित इंद्रियों को समेट के भक्ति अर्थात विभक्ति माने अलगाव भक्ति माने जुड़ना जब उस परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाते हैं और उस परमात्मा चिंतन करते करते उस परमात्मा का दर्शन स्पर्श उसमें प्रवेश पा गए तो कहते वो आप स्थित हो जाते हैं जैसे जैनियों हम आप सुनते हैं कि महावीर को तीर्थंकर शब्द से संबोधित करते हैं और कहते हैं हमारे में चौबीस तीर्थंकर हुए हैं जैसे हम आपके शास्त्रों में उल्लेखित चौबीस अवतार वैसे उन उनके भी शास्त्रों माता चौबीस तीर्थंकर तीर्थंकर का मतलब क्या होता है तीर्थ माने आत्मा अंकर माने समय उस आत्म स्थित हम जो हम आपकी मन से इंद्रिया बहिर्मुख थी उस मन से इंद्रियों को अंतर्मुख करते हुए चिंतन करते हुए जब उस आप तत्व का दर्शन स्पर्श उसमें प्रवाह प्रवेश पा गए तो वह महापुरुष ही तीर्थंकर होता है वह महापुरुष पवित्र होता है उस महापुरुष के लिए कहते वह महापुरुष जहाँ उठता है बैठता है चलता है सोता है जागता है खाता है वह सब तीर्थ में ही बरता जाता है जैसे कहते हैं कि मनो व काय शुद्धा नाम राजस तीर्थम पदे पदे यथा मलिन विचित्ता नाम गंगा पिकिट कि जिसकी मन वाणी और काया शुद्ध हो गई है कहते राजस तीर्थम पदे पदे कि हे राजन उनके चरणों में तीर्थ निवास करता है न कि वह तीर्थ में निवास करते हैं जैसे पूज्य गुरु महाराज का कहना है कि एक महापुरुष के पीछे हजारों तीर्थ की उत्पत्ति होती है हजारों मठ की उत्पत्ति होती है हजार तीर्थ और मठ मिलकर एक महापुरुष की उत्पत्ति नहीं कर सकते क्योंकि जो स्थित महापुरुष होते हैं वह पवित्र होते हैं स्वच्छ होते हैं वह महापुरुष जहाँ उठते हैं बैठते हैं सोते हैं चलते हैं सब तीर्थ में ही जाना जाता है वह तीर्थ पवित्र स्थान में ही गिना जाता है तो वही कहते हैं कि मनोकाय शुद्धा नाम राजस तीर्थम पदे पदे कि जिसकी मनवाड़ी अवकाया शुद्ध हो गई है हे राजन उस महापुरुष के चरणों में तीर्थ निवास करते हैं न वह तीर्थ में निवास करता है कहते यथा मलिन विचित्ता नाम गंगा पिकिट का जो मलिन चित्त वाले हैं जिसके अंदर विषयों का प्रवाह है वह कहते हो गंगा भी उनके लिए कीकट देश के समान होता है चाहे प्रयाग में नहा लें चाहे काशी में नहा लें चाहे गंगा सागर में नहा लें कहीं भी नहा लें शुद्ध करना है तो मन को करना है तन तो आज भी अशुद्ध है आगे भी अशुद्ध रहेगा इस तन को अशुद्ध तब इस अशुद्ध तन में आने का कारण कौन है वह है मन जैसे भगवान कृष्ण कहते अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसी होती शरीर का अधिष्ठाता मन से मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन करता है और उन्हीं विषयों का सेवन करते करते विषयों में ले आके पटक देता है तो ये शरीर एक शरीर छूटेगी दूसरी शरीर में जाएंगे तो ये शरीर का अधिष्ठाता कौन है मन उस मन को हम आपको स्वच्छ करना है वह मन विषयों में जाता है उसी मन को जब पवित्र कर लेंगे तो उस वही मन परमात्मा को जो प्राप्त कर लेगा तो वो पवित्र हो जाएगा तो वो कहते हैं कि राज राजस तीर्थम पदे पदे यथा मलिन नम गंगा पिकट का अधिक है जैसे महात्मा कबीर कहते हैं कि जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा जो कच करूस पूजा बाहर भीतर एक ही देखूँ भाव मिटा सब दूजा और तू तो सहज समाधि भली जब उस सस्वरूप को पा गए जो सम आदि स समाधि जो सम परमात्मा है जिसमें विषमता नहीं है जिसका आदि है अंत है जब उस परमात्म स्वरूप में स्थित हुए कहते जय जय जाओ सोई परिक्रमा वो जहाँ जहाँ जाते थे परिक्रमा जो कुछ करते थे वो पूजा कहते हैं बाहर भीतर एक ही देखो भाव मिटा सब दूजा बाहर भी दृष्टि डालते थे भीतर भी डालते थे एक ही ईश्वर को देखते थे जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी वह महापुरुष के लिए बाहर भीतर वह ईश्वर का ही प्रादुर्भाव रहता है तो ऐसे महापुरुष से तीर्थों की उत्पत्ति होती है तो ऐसे महापुरुष के लिए कहते हैं कि साधु नाम जंगम तीर्थ निर्मलम सर्व काम कम ते समवाक्योद के नव शुद्ध यंत्र मलना जना कि साधु नाम जंगम तीर्थम तो इस संसार में चलता फिरता तीर्थ है कौन कहते साधु नाम जंगम तीर्थम जो साधु का समाज है वह चलता फिरता चलता फिरता तीर्थ है कहते निर्मलम सर्व काम कम वह निर्मल कर देने में और संपूर्ण कामनाओं को देने में सक्षम होते हैं कहते तेसा वाक्योद के नैव शुद्धयंती मलिना जन उनके एक वाक्य से मलिन जन शुद्ध हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर एक ईश्वर को प्राप्त करने की विधि एक ही होती है तो वह महापुरुष जो प्राप्त कर चुके हैं जो तीर्थ स्वरूप हो चुके हैं वह हम आपको उसी परमात्मा की तरफ अग्रसर कर देते हैं एक ईश्वर की विधि बताते हैं प्राप्त करने के लिए कहते तेसा वाक्योद के न शुद्ध यंत्र मलिना जन जो मलिन जन है वह शुद्ध हो जाते हैं कहाँ जो तीर्थ चलता फिरता समाज में साधुओं का समाज है संसार में तो ये महापुरुष जो होते वो तीर्थ स्वरूप होते हैं उन्हीं महापुरुष के शरण सानिध्य से हम आपको उस आत्मा की प्राप्ति हो सकती है तो इसके लिए जैसे हमने प्रयागराज का प्रकरण उठाए थे कि प्रयागराज है क्या तो अब प्रयाग है क्या कि जो तीर्थराज प्रयाग तीर्थों में प्रयाग को राजा की उपाधि दिया गया है तो कहते हैं कि तीर्थ पद पुन देख प्रयाग निर्खत जन्म कोटि अगभागा तो तीर्थराज प्रयाग तो रामचरित मानस में प्रेम कहा गया है कि मिले न रघपत बिन अनुरागा किए कोट जब जोग विरागा तीर्थराज प्रयाग को प्रेम की उपाध संज्ञा दी गई है कि प्रेम ही प्रयाग है जब तक हम आपके अंतराल में प्रेम नहीं होगा तो वह परमात्मा हमारे लिए आपके लिए नहीं है इसके लिए कहते हैं मिले न रघपत बिन अनुरागा किए कोटि जब जोग विरागा वह परमात्मा के लिए हम चाहे करोड़ों जप कर लें यज्ञ कर लें तप कर लें जब तक हृदय के अंतराल में प्रेम नहीं होगा अनुराग नहीं होगा तब तक उस ईश्वर को जान नहीं सकते हैं तो वह प्रेम की उत्पत्ति कहाँ होती है संसार में राग और द्वेष सिखाया जाता है मोह सिखाया जाता है लगाव सिखाया जाता है यह प्रेम कहाँ मिलता है तो महात्मा कबीर कहते प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा परजा जो मिले शीश दे ले जाए कहते प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम बगीचे में उत्पन्न नहीं होता प्रेम बाजार में नहीं बिकता कहते राजा प्रजा जो मिले शीश दे ले जाए राजा हो प्रजा हो वो शीश को दे और ले जाए तो कहाँ हम शीश को चढ़ाएं तो महात्मा कबीर कहते यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाए शीश उतारे भू धरे सो बैठे घर माए अर्थात सदगुरुओं का घर वह प्रेम का घर होता है वहाँ प्रेम प्रेम ही बटता है वह उस परमात्मा से हम कैसे प्रेम करें वहाँ सिखाया जाता है कहते शिष्य उतारे भूई धरे सो बैठे घर में जो उन सदगुरु को समर्पित होता है वह वह युक्ति दे देते हैं वह विधि दे देते हैं जिसके द्वारा वह परमात्मा को जानता है वह विधि का नाम है प्रेम तो यह प्रेम ही प्रयाग है कहते हैं कि तीरथ पथ पुण्य देख प्रयागा निरखत जन्म कोट अगभागा तीरथ पथ पुण्य देख प्रयागा तीर्थराज प्रयाग को बार बार देखने से करोड़ों जन्म पाप भाग जाते हैं अर्थात जब हम उस ईश्वर का प्रेम के द्वारा चिंतन करने लगे समर्पण से तो जैसे जैसे हम उस ईश्वर के चिंतन में तद्रुप होते गए जो मन बहिर्मुख है अंतर्मुख होता गया धीरे धीरे जो संस्कार हैं करोड़ों जन्म के पाप हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं जब वह ईश्वर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो कहते निर्खत जन्म कोट अगभागा वह परमात्मा के रास्ते पे हम जैसे बढ़ने लगते हैं तो वह पाप छूटते जाते हैं पीछे उठते जाते हैं तो कहते तीरथ पथ पुनि देख प्रयागा उत्तीस रात प्रयाग को देखने मात्र से जब प्रेम के द्वारा हम उस ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं कहा गया है कि जहाँ भक्त मोर पग धरे वहाँ धरूँ मैं हाथ पाछा लागा सदा रहूँ कभी न छाड़ूँ साथ जब उस ईश्वर की तरफ हम समर्पित होते हैं तो ईश्वर भी हम आपको संभालने लगता है उठाने बैठाने चलाने लगता है जीवन के हर मोड़ पे समझाने लगता है तो वह भगवान जब रथिक बन के खड़े हो जाते हैं तो कितने पाप हो कैसा भी संस्कार हो भगवान उससे धीरे धीरे काट काटते छाटते निकालते ले चलते हैं और अपने विभूतियों से अवगत कराते हुए ले चलते हैं और वह पाप धीरे धीरे कटता जाता है कहते दीर्घत जन्म कोट अगभागा कहते बट विश्वास अचल निज धर्मा तो तीर्थराज प्रयाग में कहते हैं बट का वृक्ष है ये बट रामचरित मानस में बट का प्रसंग कई बार आया है जैसे कागुसुंडी महाराज के यहाँ है कि बट तर्क हरिकथा प्रसंगा आमय सुने अनेक विहंगा कि बट के नीचे वह कागुसुंडी महाराज कथा करते थे अनेकों पक्षी वहाँ जाके सुनते थे आप तो एक कौवा किसी वृक्ष पे बैठ जाता है और पक्षियाँ डर के मारी भागने लगती हैं कि कहीं हमको मारे ना और वहाँ कागुसुंडी महाराज कहते हैं कि कागुसुंडी महाराज बट के नीचे बैठ के सुनाते थे और सब पक्षी आके सुनते थे आवाज हाँ, सुने अनेक विहंगा कि बहुत से पक्षियाँ जाते थे ते तो है क्या ते रामचरित मानस में कहीं किसी भी चीज़ को एक दृष्टांत के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी लिए हैं तो यह बट है क्या तो जो कहते हैं कि बट ब्रह्म का प्रतीक होता है तो बट तर जो ब्रह्म के अंतर्गत हो चुके हैं उसके ही अंतर समा उसमें समाहित हो गए हैं वह महापुरुष ही कथा प्रसंग उपदेश देते रहते हैं और उनके सामने उनके पास कल्याण कल्याण की याचना वाले जो कल्याण चाहने वाले हैं पुण्यात्मा वह पहुँचते हैं उपदेश सुनते हैं अपने लाइन पकड़ते चलते हैं तो यह बट ब्रह्म का प्रतीक है तो कहते हैं कि बट विश्वास तो जब उस महापुरुष के शरण में जाते हैं वो ब्रह्म की तरफ विश्वास हमारा सुदृढ़ कराने लगते हैं जो हम संसार में विश्वास करके अंधविश्वास करके पड़े हैं वही वह महापुरुष वो प्रेम की उत्पत्ति दे देते हैं उसके द्वारा हम हम आपका ब्रह्म में विश्वास होने लगता है ईश्वर में विश्वास होने लगता है कहते अचल निज, निज धर्मा तो धर्म में कहते अचलता आने लगती है चल और अचल तो धर्म है क्या कहते धर्म न दूसर सत्य समाना वह सत्य जो अभी हम जो असत्य को धारण करके घूम रहे थे कि सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत पसार नित्य विवेक या लीजय बात विचार कि सत्य वस्तु आत्मा असत्य वस्तु संसार अब इसका हमको परख मिल गई अब उस असत्य को त्याग के हम सत्य को धारण करने लगे जिस असत्य को मन को धारण करके घूम रहे थे अब उसी असत्य को त्याग के सत्य को धारण करने लगे जब उसी में मन टिकने लगा स्थिर होने लगा कहते अचल निज धर्मा अब उसमें अचलता आने लगा कब जब मन ठहरने लगा तब अचल निज धर्म तीर्थराज समाज सुकर्मा तीर्थराज के समाज कहते सुकर्म कराते हैं कि तो समाज कौन है तो हम आपका समाज हम आपके पास ही है जैसे आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने आज शंकराचार्य से पूछे कि इसका शत्रु है संत निजेंद्र याणी ताने जी जितानी यानी कि इस संसार में शत्रु कौन है और मित्र कौन है कहते अपनी इंद्रियां ही शत्रु हैं अपनी इंद्रियां ही मित्र हैं यह जब जीत ली जाती है तो मित्र बन के मित्रताम बरतती हैं किंतु जब यह जीतने में नहीं आती तो शत्रु बन के शत्रुताम बरती हैं पांचों ज्ञान इंद्रियाँ को जब हम जीत लिए तो यह शुभ कर्म कहते तीर्थ राज समाज सुकर्मा जब यह शुभ कर्म में प्रवृत्त हो जाती हैं जो पांचों ज्ञान इंद्रियां बहिर्मुक्ति विश्वोन्मुक्ति जब यही सिमिट के ईश्वर मुख हो जाती हैं अब उसी ईश्वर के चिंतन में लग जाती हैं तो कहते सुकर्म कराने लगती हैं तो वही कहते तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब सिद्धेशा सेवत सादर समन कलेसा यह प्रेम की उत्पत्ति सबको सुलभ है कहीं भी हो चाहे अरब में हो चाहे अमेरिका में चाहे भारत में वह कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा वह ईश्वर को प्राप्त करने की विधि प्रेम का उत्पत्ति सबको सुलभ है सब दिन में है और सब देश में है किंतु जब वह प्रेम वह परमात्मा का विधि प्राप्त करने की विधि जो हम आपको प्रेम मिलता है उसको कहते सादर पूर्वक जब हम सेवन करने लगते हैं नियमित जैसे दवा होता है सादर पूर्वक सेवन करते करते एक दिन रोग से निदान पा जाते हैं तो जो हम आपके अंतराल में मानस रोग मानसिक प्रवृत्तियाँ जो हैं विश्व संस्कारों का जो पर्त हैं उसको काटने के लिए हम आपको सादर पूर्वक ईश्वर का चिंतन करना होगा ऐसा नहीं कि हम एक दिन कर लिए दो चार दिन रेस्ट किए ऐसे नहीं होगा कहते हैं लव लागत लागत लागे भव भागत भागत भागे जैसा लव हम आपका समर्पित होते जाएंगे मन जो बहिर्मुख है वो अंतर्मुख होता जाएगा तो धीरे धीरे जो भाव का दबाव है संसार का दबाव है मन से इंद्रियों पे वह धीरे धीरे दूर होता जाएगा ईश्वर का दबाव बनता जाएगा तो वही कहते हैं सादर पूर्वक सादर सेवत सादर शमन कलेसा जब सादर पूर्वक सेवन करते हैं तो क्लेश हम हम आपके जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं वह नष्ट हो जाते हैं तो इसके लिए हम आपको सादर पूर्वक जो ईश्वर सदगुरु महापुरुष से उपदेश मिलता है प्रेम की जागृति मिलती है उस प्रेम के द्वारा हम ईश्वर का सादर पूर्वक चिंतन करते जाएंगे तो एक दिन जो जन्म जन्मांतर के क्लेश हैं संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे तो कथ सा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीरथ राहु देश शब्द फल प्रगट प्रभाव कहते अकथ अलौकिक वह इस प्रेम परमात्मा है कैसा कहते अकथ नहीं है अलौकिक है कहा गया जो देखा सो कहा नहीं कहा सो देखा ना रहमन अगम बात की कहन सुनन को ना है जो ईश्वर को देखा वह कभी कहा नहीं कि ईश्वर ऐसा है कबीर दास से कोई पूछा कि ईश्वर है कैसा कहे गूगे को शक्कर कि जैसे गूगा व्यक्ति शक्कर खाता जाता है उसका स्वाद नहीं बता सकता भगवान बुद्ध से पूछे कि ईश्वर है कैसा तो वो मौन होकर बैठ गए अर्थात ईश्वर शांत है तो जो महापुरुष ईश्वर को देखे वह ईश्वर के विषय में नहीं बताए जो नहीं देखा वही बोलते रहते हैं तो अकथ अलौकिक वह अकथनीय है अलौकिक है कहते हैं कि देह शब्द फल प्रकट प्रभाव किंतु जब वह ईश्वर के प्रति कोई समर्पित होता है उसके तरफ चलता है तो ईश्वर उसका मार्गदर्शन करने लगता है जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनन्यास चिंतो माम यो जना परिपास ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम कि जो अनन्य चित्त से अनन्य माने अन्य न मुझ एक ईश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवता भूत भवानी कहीं भी जो जिसकी श्रद्धा स्थिर नहीं होती जो एक मुझ में ही श्रद्धा स्थिर करके लगा है भजते माम अनन्य भाग जो अनन्य मन से मुझको भजता है कहते तेसाम नित्य युक्ता नाम योगक्षेम भाव है ऐसे नित्य युक्त भक्त का योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है अर्थात जहाँ भक्त मोर पग धरे वहाँ धरू मैं हाथ पाछा लागा सदा रहूँ कभी निछाड़ू साथ वह ईश्वर के मार्ग में हम आप जब पांव रखते हैं तो ईश्वर हाथ धरने के लिए तैयार रहता है वो मार्गदर्शन करने में लग जाता है कब जब उसमें अनन्य मन से हम समर्पित हो जाते हैं तब वह उसका प्रभाव छिपा नहीं है उसका प्रभाव प्रकट है किंतु जब हम आपको समर्पित होकर लगेंगे तभी उसका प्रभाव देख पाएंगे इन चरम चक्षुओं से हम नहीं देख पाएंगे इन वाक्यों से वर्णन नहीं कर पाएंगे भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन रहता था भगवान कृष्ण का प्रभाव अर्जुन नहीं देखा जब भगवान कृष्ण ने कहा मैं ए हूँ ओ हूँ दस अध्याय में अर्जुन ने कहा भगवत दिखाइए तब हम विश्वास करेंगे तो भगवान कृष्ण ग्यारह अध्याय दिखाना शुरू किए दो दो तीन श्लोक तो दिखाते चले गए अपना प्रभाव कि अर्जुन मैं इसमें हूँ वो हूँ तो अर्जुन ने कहा भगवान हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो भगवान कृष्ण सहसा रुक गए कहें अर्जुन इन चरम चक्षु तू मुझको नहीं देख सकता उसको देखने के लिए कहते दिव्यम ददामते चक्षु वह दिव्य दृष्टि दिए जिसके माध्यम से अर्जुन ने भगवान का प्रभाव देखा अर्थात जब हम उस ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे समर्पण के साथ लगेंगे जब भजन चिंतन करेंगे तो वह दिव्य दृष्टि सबके लिए सुलभ है किंतु उसके लिए जब हम समर्पित होकर प्रेम के साथ लगेंगे तब इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी समय मिले जो सदगुरु हैं जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव होता है जहाँ प्रेम बढ़ता है उस सदगुरु के दरबार में हम आप आते हैं तो उनके द्वारा जो उपदेश मिलता है उस उपदेश के सुन के जब हम आप आचरण करते हैं तो जो ईश्वर अलौकिक है अकथनीय है वो उसका प्रभाव हम आपको देखने को मिलता है ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय